ॐ सहनावतु सहनौ नक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधेतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति कृष्णयजुर्वेदीय तात्वोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय बल्ली के दूसरे मंत्र का विचार हुआ कुछ भाष्य बाकी मंत्र मिला मनुष्यों के सामने हर मनुष्यों के सामने दो पदार्थ होते हैं श्रेय और प्रेय एक कल्याणकारी होता है एक प्रिय लगने वाला होता है दो पदार्थ होते हैं तो सबके सामने है ये पदार्थ दोनों मनुष्य मात्र के सामने है उनमें से जो विवेकी होगा वह प्रेय को छोड़ करके श्रेय वाले को ग्रहण उसे कल्याण होगा और अविवेकी जो होगा तात्कालिक लाभ है प्रेम पदार्थ इसलिए प्रेम को स्वीकार करता है ये मंत्र में क्या नजीकेदार को कहना चाहते हैं अनुराग तुम श्रेय को चाहने वाले हो इतने बड़ी बड़ी संपदा में दे रहा था ये प्रेय पदार्थ थे तुमने नहीं ली तो श्रेय चाहने वाले ने आपको ज्ञान चाहने वाले श्रेय का तो- श्रेय श्रेय तो आपको ज्ञान है जैसे कि आगे के लिए मोक्ष जन्म मृत्यु से छुटकारा देने वाला है तो श्रेय के अधिकारी हो विद्या विक्षण नजीकता तो हम मन में आगे स्वयं बोलेंगे मैं तो तुम विद्या के अभिलाषी हो ऐसा समझता हूं ऐसा कहना ये चल रहा था तो मंत्र के अवतरण में कहा था कि यदि उभे अभी कर्तव्य स्वायत्त पुरुष यदि दोनों के दोनों मनुष्यों के द्वारा किया जा सकता स्वाधीन है यदि अपने अधीन है श्रेय लेना चाहे श्रेय लिए प्रेय लेना चाहे प्रेय लिए ऐसी स्थिति हो तो फिर उस स्थिति में क्यों श्रेय को त्याग करके प्रेय को लेने वाले ज्यादा क्यों जो श्रेय चाहने वाले आत्मज्ञान चाहने वाले कितने होंगे कितने प्रतिशत होगा अगर प्रतिशत एक प्रतिशत भी नहीं हो सकता आधा भी मुश्किल है अब क्या बोलेंगे आगे आगे आगे जा करके जीरो के हिसाब में है सबके सब प्रेय चाहते हैं ऐसी तो ऐसा क्यों यदि ऐसा अधीन है श्रेय पदार्थ यदि मुख्य है तो फिर प्रेम क्यों चाहते हैं लोग ये अंदर को उत्तर दिया कि सत्यम स्वायत्त है ठीक है अधीन तो है सामने आए हुए हैं जिसको चाहो उसको ले लो वो नहीं बोलते कि मुझे ले लो नहीं बोलते आप पकड़ते हो तो विवेकी होगा तो श्रेय को पकड़ेगा नहीं तो प्रेम को पकड़ेगा ये स्थिति हो जाती है सत्य है स्वायत्त है स्वाधीन है अपने अभी अभिनय जिसको चाहे उसका ले सकते कथा ये साधनता फलता मंत्र बुद्धि नाम दुर्विवेक रूपेश ये दोनों के साधन और फल का विवेचन नहीं कर पाएंगे ये इसके साधन क्या है स्नेह का साधन क्या है फल क्या है प्रेय का साधन क्या है फल क्या है दुर्विवेक होने के कारण से ज्ञान स्त्री व्यामिश्री पर मैंने कैसे आएगा मिले मिले मिले वही जैसे होकर के आते हैं छानबीन करना मुश्किल होगा अभिवेकी के लिए मनुष्य माने पुरुषम मनुष्यों को आगीत माने एत जो एत करता अनुपूर्वक गीता है आते हैं श्रेय सत्य तो आते हैं मिले जुले होके आते हैं ये भी सुख दे रहे वो भी सुख के साधन भी सुख के साधन ऐसा दिखाई पड़ता है हम से जो हम बस जैसे हमसे क्या करता है जल से दूध को अलग करता है इसी प्रकार विवेकी व्यक्ति को प्रेय से श्रेय को अलग करता है उसको अपना अंश एवं अंशतया तव तव का अर्थ करते हैं श्रेय से श्रेय पदार्थों का ऐसे हाँ, हाँ, मंत्र में तव कह दिया पे बोलना चाहिए था क्योंकि श्रेय और प्रिय दोनों नपुंसक लिंग वाले हैं तो पे बोलने की जगह तव तो बोला है स्मृति ने वो तो स्वतंत्र है इसलिए भाष्यकार कहते हैं तव का अर्थ पदार्थ हो या श्रेय प्रिय से ही नहीं बोलते क्या बोलना पदार्थ हो तो वो दोनों पदार्थ है श्रेय और प्रिय इसलिए पदार्थ शब्द से बोला तव का अर्थ पदार्थ हो पदार्थ शब्द तो पूरी का ही है इस तव का अर्थ पदार्थ हो तो दोनों पदार्थ भी है श्रेय प्रेय का नाम ले न लेकर के भाषिकार पदार्थ हो बोलते हैं संपरित्य समृद्ध परिक्रम विचार करके दोनों को मनसा आलोच्य छानबीन करते हैं देवी के लोग जब दोनों सामने आते हैं तो विचार कर क्या विचार करके गुरु का आगे कृष्ण गौरव है कृष्ण लघुता है इसको विचार करके विभिन्न पृथक प्रवृत्ति धीरो धीमान कौन करेगा धीर बुद्धिमान व्यक्ति अलग करता है दोनों को छानबीन करता है दोनों श्रेय को अलग श्रेय को अलग कर लेता है ठीक आगे विविच्य यहां से पास करता है जब अलग करेगा छानबीन करेगा उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलेगा प्रेय की अपेक्षा श्रेय को ले लेता है ये बोलते हैं विविच्य श्रेयो ही श्रेयो ही श्रेय एवं अभिप्रेरित यही का अर्थ एवं समझा मतलब है ना श्रेयो ही हीरो अभिप्रेय सो गृहित श्रेय ही का अर्थ श्रेय एवं जो श्रेय है उसी को ही या ही का अर्थ है एवं का अर्थ है एवं का अर्थ श्रेयो ही माने श्रेय एवं अभिप्रेरित स्वीकारो की स्वीकार करता है स्वीकार करता है उसको श्रेय को देता है क्यों प्रेयसो अभ्यर्थित्व प्रेय की अपेक्षा श्रेष्ठ है पूज्य है कौन श्रेय प्रेयस पंचम प्रेय की अपेक्षा श्रेष्ठ है दो नंबर की टिप्पणी होगी प्रेयसो अभ्यर्थित्व प्रेय अपेक्षा श्रेयस फल साधनाभ्याम उत्तमत्व टिप्पणी का प्रेयस पंचमी के जगह में द्वितीय लगाकर बोल रहे निर्लोपे पंचमी होता है तो द्वितीय का रहेगा जैसे अनुनाशिका पर अनुस्वार सूत्र में वृत्ति लिखते अनुनाशक विहाय द्वितीय से आप लेते हैं लेवलोपे पंचमी यही इसी को लेना चाह रहे हैं यही बोल रहे प्रकार प्रेय अपेक्षा प्रेय की ये द्वितीय प्रेय मंत्र में प्रेयस पंचमी है वो पंचमी लेवलोप होकर के है ये बोला जा रहा है प्रेय की अपेक्षा से श्रेयस और प्रेय की अपेक्षा से श्रेय है वो उत्तम है ऐसा उत्तम है फल से भी उत्तम है साधन से भी उत्तम है साधन है आत्मज्ञान नहीं ज्ञान है सदृशम पवित्र हम यही थे इतना पवित्र साधन है और फल क्या है नित्य सुख ये फल है उसका फल से भी उत्तम है और साधन से भी उत्तम है इसलिए श्रेय को ग्रहण करते हैं यह आता है यदि अयम अभ्युपसर्ग से जो अव्यर्घित्वा भाष्यकार बोल रहे हैं कहां से लाए वहां तो है ही नहीं अव्यक्त मंत्र में नहीं है कहते जो अभी प्रेयस प्रेरित अभी है उसका अर्थ अव्यक्त भाष्यकार ने कहा करके टिप्पणी करता हैं अव्यक्त तत्वादी अयम ये जो शब्द है यह अव्यव सर्ग से अर्थ अभी वो सर्ग का ही अर्थ है अव्यक्त तत्व भाष्यकार ने कोई तो बाहर से जोड़ा नहीं है मंत्र में जो अभी है उसी का अर्थ है ऐसा प्रेयस यदि मौलिक पर अनंतरम मूल में जो प्रेयस अभिप्रेयसो प्रेरित प्रेयस जो पंचमंत है मौलिक पद तो उसके अनंतर शेष होगा अथवा उसके आगे शेष लगा देना अपेरित मूल में शेष लगा देना इसको अपेरित ये ये अर्थ है श्रेष्ठ की अपेक्षा से श्रेष्ठ होने से यह अर्थ आ जाएगा यदि तो यदि ऐसा अर्थ करेंगे जो प्रेयस इत्यस्य संबंधात्म होगा प्रेयस के साथ में प्रेयस प्रेय प्रेय के साथ में संबंध करने की इच्छा से विविच्य की पदम पूर्व अध्याय तो ये विविच्य पद का उदाहरण अध्ययन करेंगे विविच्य प्रेयस ऐसा बनाएंगे तो उत्तम विभाग देते ऐसे कर नहीं सकते हैं यदि आप संभावना करेंगे ऐसे संभावना करेंगे कल्पना करेंगे तो क्या होगा तथा श्रेयस वह श्रेयो अपेक्षया फिर अर्थ से आ जाएगा अव्यवहित शब्द नहीं वो तो अभिप्रणित क्रिया ही रहेगी वो अभी वृणित के साथ ही होगा अव्यवहित अर्थ से आएगा प्रेय की अपेक्षा श्रेय अव्यर्हित या अर्थ से आएगा शब्द से नहीं आएगा ऐसा तो यहां पर श्रेयस एवं प्रेय अपेक्षा प्रेय की अपेक्षा श्रेयस इसमें जो दिखाते हैं में पंचम योगगम्य यहां पर प्रेयो अपेक्षा है द्वितीयांत है तो दुर्लभ लोग पंचमी ये ये करके लेव का लोक किया है ऐसा समझना चाहिए कहा क्योंकि विभिन्न पद का अध्ययन करेंगे तो लेप हो जाएगा तो लेप लोप पर पंचमी हो जाती है अर्थ रहेगा द्वितीयांत ठीक है पंचमी पंचमी होगा में स्वीकार करके लेप जहां होता है वहां पंचमी के जैसे ससुराल जिग्रेटी बोलते हैं कारक में पड़ा होगा आपने ससुर से लज्जा करता है ससुर से क्या लज्जा करेगा ससुर वहां है तो अपने गांव में लज्जा करेगा कब करता है ससुरम दीक्षा जिखे ससुर को देख करके लज्जा करता है तो वह आएगा उसका लेख के पंचमी है वहां ससुराल पंचमी है किंतु तो अर्थ आएगा ससुरम दीक्षा जिखरे ऐसा अर्थ आता है ऐसे यहां भी यही समझना है लेकिन वे पंचजन्य उपक्रम में स्वीकार करके प्रेय परित्यज्य इत्यादि सत्यम अभाव प्रेय को परित्याग कर ये भी अर्थ ले सकते प्रत्याग स्त्रेय को ग्रहण करता है ये भी हम अर्थ की कल्पना कर सकते हैं इसका ये चिंतन ऐसा होगा आगे भाष्य है को सऊ कौन करता है धीर पुरुष ही करता है प्रेय को त्याग करके श्रेय को लेने वाला धीर पुरुष होता है मैंने विषय की भोगों की इच्छा त्याग विषय के साधन को त्याग करके मोक्ष के साधन अपराध को बोला वो धीर विवेकी होगा अंश के समान विवेक को होगा बाकी जो भेद दशा नहीं चल रहा चल रहा क्यों करते हो ऐसा कोई सब करते थे कोई अपने विवेक नहीं है जैसे गांव में होते हैं किसी माताओं को पूछिए पीपल में जल क्यों डालती है हमारे साथ डालती थी तुलसी में जल क्यों डालते हो हमारे सास ऐसे काम करती थी और क्या होता है परिणाम पता नहीं पीपल में जल डाल चलाने से तुलसी में जल चलाने से कोई पता नहीं गाँव में देहाती जो होते हैं ऐसे बोलो परंपरा को है ये परंपरा घर प्रसाद चल रहा चल रहा ऐसे बोलो तो कौन है वो पेड़ की अपेक्षा श्रेय को ग्रहण करने वाला कौन है वो ढेर पुरुष कहा तो यशु कोष धीरा वो धीर है यस्तु तो, प्रस्तु मैंने प्रसन्न बदल गया मतलब दूसरा जो तो, प्रेम को चाहने वाला होगा कौन जाएगा मंदा मैंने अल्पबुद्धि मंगल शब्द करता मतलब? अल्पबुद्धि वाला अल्पा बुद्धि ऐसे ऐसा अल्पबुद्धि हाँ, कोशो धीरा प्रश्न हुआ नहीं कोशो में होना चाहिए तो धीरा उत्तर है तो मंदो मैंने अल्पबुद्धि जो अल्पबुद्धि वाला है मंद है वो क्या करता है तो कहा प्रेयो मंदो योग समाज गृहते ही है मंद बुद्धि वाला प्रेय को स्वीकार करता है क्यों ये योग शब्द साधन हो जाता है वो यस्तु मैंने मंदो अल्पबुद्धि जो मंद है मंद का था अल्पबुद्धि अल्पा बुद्धि यश अल्पबुद्धि अल्पबुद्धि वाला विशेष बुद्धि है जिसका ऐसा तीन नंबर की टिप्पणी ना तो धीरे को श्रेय ठीक है धीरे पुरुष श्रेय को ग्रहण कर ले ठीक है हम लोट लगाकर प्रयोग स्वीकार कर ले ठीक है कोई बात नहीं किंतु प्रेय सब आधान मामले तो क्या हमारे तो प्रश्न भी जो होगा हो रहा है जब दोनों सामने आ जाते हैं श्रेय और प्रेय तो प्रेय को ही लेने वाले क्यों ज्यादा है ये जो प्रश्न था उसका क्या उत्तर होगा यही प्रश्न है नाम धीर एवं हम प्रेष रहेगा तब श्रेय को ग्रहण करने धीर कुछ ठीक है प्रिय सर आदान बाहुल्य प्रिय को लेने वाले लोग जो बाहुलता है तो इसमें क्यों आया तो इसका उत्तर क्या हुआ ये विधि पूर्वोक्ति भाव अनुभव है ना यदि पहले बता दिया है भाष्य का उसके समझ नहीं पाया सामने वाला पूर्वोक्ति जो भाव पूर्व विजान का भाव अज्ञान के कारण शंका करने वाला जो व्यक्ति होगा हमारे प्रश्न का क्या उत्तर हुआ इसके लिए भूगो रही समाह उसको विशेष रूप से ज्ञान करवाने के लिए कहते हुए ये ज्ञान कराने का हाँ, यशको मंद जो मंद बुद्धि वाला है वो प्रेय को जिताने का ही भूयान भवती लोग ऐसा देखा है क्या मंद पुरुष विषय चाहने वाले को मंद कहा है वो लोग में तो बहुत ज्यादा होते हैं भूयाम भवती श्रेय चाहने वालों की अपेक्षा भूया होते हैं ज्यादा होते हैं मंदाना में बाहुल्य हाँ मंदों में बहुत है यहाँ मंदबुद्धि वालों में बहुत है प्रेय आदान बाहुल्य क्योंकि जब ग्रहण करने वाला कर्ता ज्यादा हो गए तो प्रेय ज्यादा हो गया ये कहते हैं प्रेय को लेने वाला ज्यादा हो गया मंदान में बाहुल्य मंदों में बाहुल्य होने के कारण प्रेय आदान बाहुल्य प्रेय का ग्रहण करना ज्यादा हो गया आदान का ग्रहण करना ज्यादा हो गया ये निष्कर्ष है भाष्य में कहते हैं स्व विवेक सामर्थ्यात सब माने मंद बुद्धि वाला जो अल्प बुद्धि वाला है वह विवेक नहीं है उसके पास छानबीन करने की शक्ति नहीं है किसमें लाभ है किसमें हानि है जैसे हम दूध और जल को अलग कर देता है ऐसे उसमें नहीं है विवेक ही में है वो तो से होने से सब विवेक असामर्थ्य सब माने मंद जो अल्प बुद्धि वाला है वह विवेक के सामर्थ्य का अभाव विवेक करने की शक्ति नहीं उसके पास ऐसा होने से योगक्षेम योगक्षेम के साधन बन जाते हो अपराध वस्तु की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा ये जो योगक्षेम के साधन बन जाते हैं प्रेम पदार्थ ही कहा योगक्षेम योगक्षेम निमित्त योगक्षेम के निमित्त बन जाते हैं प्रेम पदार्थ अप्राप्ति की प्राप्ति की होगी स्वर्ग अप्राप्त था यज्ञ करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा इत्यादि योग शक्ति निमित्त होने के कारण शरीर आदि को बचाए रक्षा निमित्त शरीर आदि की वृद्धि आदि करने का काम आ जाएगा योग क्षण ये काम करता है शरीर आदि रक्षा के लिए होता है प्रेय रक्षा लक्षण वही चाहता है पशुपुत्रा भी प्रेय पदार्थ चाहता है क्यों इनके माध्यम से अपनी रक्षा होती है तो ये चाहता है तो विवेक करने का श्रेय अच्छा है कि प्रेय अच्छा है वो तो समझता है दोनों में सुख है ये नहीं कि स्थायी सुख अन्य सुख दोनों में ख्याल नहीं उसको ऐसा दिखता है कहा टिप्पणी चार पांच छह चार कहा मूलोक मूलोक तस्तु योग क्षमादि फलात्मक है मूल में जो कहा था योग सेवा गणित तो वो फल रूप एक हुआ है योग फल होते हैं और यहां जो बताए कारणात्मक वस्तु कारणात्मक कारणात्मक हेतु स्वयं पूरा जो कारण बने तो फल रूप हेतु है मूल में जो योग चमार कहा फल रूप हेतु फल है तो और कारण को, को स्वयं बताते हेतु को बताते कारण हेतु क्या है विवेक असामर्थ्य विवेक के असामर्थ्य के कारण वो फल को चाहता है क्या था योग शब्द चाहता है वो फल फलात्मक हेतु है मूल में जो होता है योग समाप्त है योग क्षम को चाहता है किसके क्यों चाहता है विवेक के असामर्थ्य होने से ये कारण हेतु यहाँ भाष्यकार दें विवेक का सामर्थ्य यह वो फलस्वरूप हेतु है मूल में जो कहा विवेक न होने के कारण से वो चाह रहा है उसको चाहता है क्योंकि हेतु फलरूप भी होता है कारण भी होता है पुण्य न दृष्टो हरी आदि आते हैं पुण्य क्या है ये कारण को हो जाता है दंडे घटा इत्यादि कारण को होता है कभी कभी फल भी होता है स्वर्गाय प्रयत्न इत्यादि आकर स्वर्ग फल है फल के लिए प्रयत्न करता है स्वर्ग भी हेतु है यज्ञ के लिए हेतु क्या है स्वर्ग स्वर्ग का मिलना और क्यों करेगा यज्ञ ऐसा नहीं होता अच्छा अगर पांच के निर्माण का योग क्षेम लेता कहा है ये जो पंचमी है ना योग क्षेमा ये निमित्त अर्थ में पंचमी है निमित्त पर्याय निमित्त पर्याय सर्वासाम प्राय दर्शन है निमित्त पर्याय प्रयोग है सर्वासाम प्राय दर्शन ऐसा वार्तिक है निमित्त शब्द के पर्याय वाचक शब्द के प्रयोग में प्राय सभी विभक्ति का प्रयोग होता है देखा निमित्त अर्थ पंचमी निमित्त में पंचमी है निमित्त अर्थ में पंचमी है कौन योग निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शन ऐसा कारक में वार्तिक है निमित्त शब्द निमित्त के पर्यायवाचक शब्दों के प्रयोग करने पर सभी विभक्तियों हो जाते हैं प्राय तो निमित्त आधार पंचमी योग समाप्त पंचमी निमित्त के लिए है वो फलों से यह निमित्त या फल निमित्त ही है उसी निमित्त के कारण से प्रिय को चाहता है प्रिय को चाहता है इतिहास में आप योग क्षण निमित्त ही कहा योग क्षण निमित्त ही कहा योग क्षणार्थम किसके लिए प्रयोग चाहता है योग क्षण के लिए अपने रक्षा सुख शांति के लिए चाहता है भौतिक शांति के लिए चाहता है क्षेत्र नंबर का सरकार को बचे रक्षा काम हूँ कहा कहते हैं अप्राप्त से सरकारी ऊंचाई से दुबला पत्ता हो गया था हाँ, घर में घर में गोदावरी गाय बदला हो जाएगा अप्राप्त की रक्षा मैंने अभी शरीर में स्थूलता नहीं है रिश्ता है उसकी उसकी प्राप्ति हो जाएगी इत्यादि शरीरारी ऊंचाई से प्राप्ति नहीं होगा शरीरारी की वृद्धि होना धन की वृद्धि होना और धन आएगा तो धन की वृद्धि पशुओं की वृद्धि होना और पशु आ जाएंगे शरीर की वृद्धि है दुबला पत्ता था कुछ खाने तो पीने के साथ अंदर तो मोटा हो जाएगा इत्यादि शरीरारी के जो वजह है वृद्धि है प्राप्ति योग है इसकी वृद्धि की प्राप्ति को योग कहते योग शब्द कहते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति प्राप्त नहीं प्राप्त हो गया वृद्धि हो गई पहले वृद्धि नहीं थी प्राप्त से आदि रक्षण प्राप्त हो गया उसको फिर बनाए रखना है दुबला नहीं होना है शरीर को उसको कहते हैं रक्षा क्षेम बोलते हैं उसको प्राप्त से आदि रक्षण क्षेम आपने कहा योग और क्षेम का एक परिभाषा है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को कहेंगे योग और प्राप्त बनी रहे उसको कहेंगे क्षेम ये तो है क्षेम तब तो बड़े निमित्त तो इसके लिए मानी ये जो प्रेम पदार्थ को इसलिए चाहता है अभिवेकी अभिवेकी व्यक्ति इसलिए चाहता है कि अपराध वस्तु हमारे पास आ जाए और हमारे पास आने के बाद किसी के पास न जाए दूसरे से हमारे पास आ जाए ये तो मानता है हमारे पास आने के बाद न जाए ये क्षम यही है बने रहे एक क्षम सब होता है तो थोड़ा उसको सोचना चाहिए जैसे वहां से यहाँ आया तो यहाँ से भी जाएगा वो नहीं होता क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप है लक्ष्मी में सभी वस्तु लक्ष्मी रूप है कभी पन्नालाल के घर में कभी मुन्नालाल के घर में ऐसी होती रहती है एक जगह होती नहीं तो यह सोचता है कि हमारे यहां रुके रहना चाहिए ये योग क्षम के लिए होता है क्या कुछ लोग ऐसा बिगड़ा दिखाते हैं कहते हैं वो ठीक नहीं है करके बोलना चाहिए क्षम शब्द का ऐसा बिगड़ा बनाते हैं कुछ लोग यहां तो यही मुख्य विग्रह यही है अप्राप्ति की प्राप्ति को योग और प्राप्ति की रक्षा को क्षेत्र यही तो है सारा प्राणी इसी तरह लगे हुए हैं योग से प्राप्त से क्षण योग जो प्राप्त हो गया उसको क्षम कहेंगे योग प्राप्त हुआ योग को क्षम कहेंगे यदि विग्रह का संपूर्ण विग्रह को योग दिखाते हैं ठीक है तो भ्रम मूलकम ये टीका करने वाले लोग ऐसा बोलते हैं ये भ्रम मूलक है क्योंकि ये ठीक नहीं है ऐसी विग्रह करना ठीक नहीं योग की प्राप्ति को क्षम कहेंगे प्राप्ति को नहीं रक्षा का नाम क्षम होना चाहिए प्राप्ति को कैसे क्षम कहेंगे ये जो टीका लिखने वाले कुछ लोग ऐसा व्याख्या करते हैं वो काम है पश्चिम ऐसा हम देखते हैं ये कहा अच्छा आगे मत आगे सप्तम प्रिया प्रिय रूपा सकाम

यश्यामचंती बहो मनुष्य सब वही तुम हो जिसको मैंने बहुत प्रलोभन दिया बहुत सारे दिया ईश्वर का भोग प्रलोभ का भोग वह तो सर्वनाम से प्रसिद्धि दिखा रहे कौन वह तुम तो, कौन जो पूर्वोत्तर बहुत सारे प्रलोभन दिया गया था जिसको वह तो। उसे प्रलोभित नहीं हुए तो। सारे ईश्वर का भोग परलोक का भोग सामने रखा इसके बदले में एक बदान बदले में कुछ नहीं दिया वह तुमको छोटे बड़े आदमी नहीं हो गया बोला था ऐसा कौन वही तुम जो हो मेरे द्वारा प्रलोक दिखाए जाने पर भी वह तुम क्या कहे प्रियान प्रिय महाशा प्रियान जो तो सताई सब पुत्र पौधराम प्रेम इत्यादि प्रिय होते हैं पुत्र और भोग्य पदार्थ जो होते हैं प्रिय स्वरूप रूप प्रिय होते हैं किंतु प्रिय नहीं होते प्रिय रूपान सामने देखने में प्रिय लगता है अच्छा लगता है दर्शन अच्छा है शाम बड़ा अच्छा लगता है देखने में किंतु काटने वाला होता है विषय ऐसे जहर है ऊपर से थोड़ा दूर पड़ा हो नीचे जहर भरा हो ऐसा विषय जब तक नहीं मिले नालायक होता है मिलने के बाद उसको खा जाता है ऐसे और उसके क्षेम रक्षा की चिंता में डूब जाता है तो सर को ही तुम जो हो प्रिया प्रिय रूपास कामान कामान विषयान प्रिय रूप के विषय हैं जिनका रूप प्रिय है स्वरूप वस्तु प्रिय नहीं है स्वरूप प्रिय होता है सामने से प्रिय लगता है प्रिय शब्द से पुत्रों को लेना और प्रिय रूपान कामान का अर्थ तो विषय हो ध्यान चिंतन करके तुमने यही चिंता चिंतन विचार किया तो मैं विचार करके क्या किया हे नचिकेता संबोधन है हे नचिकेता अभिध्याय क्या दिया पुत्रों को भी ठुकरा दिया और विषयों में सारे विषयों को भी प्रदान मुझे नहीं चाहिए करके कहा मैंने मतलब वैराग्य पूर्ण वैराग्य तुम्हारे में है ये बोलना चाहते हैं नैकाम मित्र वित्तमणिम अभाव था और दूसरी बात मैं एक माला देना चाहता था कर्मगति के रूप में उसको भी तुमने नहीं दिया एक अभाव तो यश्याम मध्यंती बहुत मध्य जिसमें डूब जाते हैं सारे मनुष्य डूब गए उसको पाने के लिए इसलिए मर रहे सारे लोग जितने बड़े पदार्थ है उसको भी तुमने खतरा दिया नहीं दिया टिप्पणी एक नंबर है ना तुम तो धीर एवं तुम तो धीर हो विवेकी हो तुम न मंद तुम मंद नहीं हो तुम श्रेय को चाहने वाले हो ना प्रेय नहीं चाहते हो मंद वाला तुम तो प्रेय चाहता है तुम तो धीर एवं कहते तुम तो धीर पुरुष हो विवेकी हो न मंदय की शिष्य शिष्य की प्रशंसा करते हुए कहते पिता की प्रशंसा करते हुए कहा सत्वम इत्यादि कहा भाष्य है सत्वम वही जो तुम हो क्या हो तुम कैसे हो पुनर् पुनः पुनर्मया प्रलोभ्य मान होगी बार बार मेरे द्वारा प्रलोभ दिया गया ये तो ये नहीं तो वो ले लो वो नहीं तो वो ले लो वो नहीं तो वो ले लो इतना प्रलोभ बार बार एक बार नहीं कई बार दिया तो मना करते रहे फिर भी मैं ऊपर से बोलता रहा सबको वही पूछो जिसको याद दिलाना चाहते हैं इतने प्रलोभन देने के बावजूद भी इसलिए सत्वम का बहुत प्रसिद्ध है सत्व सबको पुनः प्रलोभ मानव के मेरे द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी क्रियान क्या क्रिया था इस लोग के भोग्य पदार्थ पुत्रों को दिया था और आयु जितनी चाहिए उतने ले लो सौ सौ साल के पुत्र ले लो अपनी आयु में जितना चाहो उतना ले लो इत्यादि प्रिया और प्रिया पुत्राधीन का प्रिया शब्द है पुत्राधीन पुत्राधि को और अत्यस्त्राक्षी के साथ में अन्वय हो जाएगा पुत्रादि को भी त्याग दिया तो क्यों त्यागा अभिध्याय चिंतन करते हुए छानबीन किया ये श्रेय है या आत्मज्ञान श्रेय है इसको लेकर प्रिया पुत्रारिण और प्रिय रूपाश्च अवसर प्रवृत्ति लक्षण कामान और प्रिय रूप कौन है देखने के लिए अच्छे हैं किंतु उसके परिणाम बुरा है प्रिय रूपांश अवसर से प्रवृत्ति लक्षण कामान कामान विषय तो अवसर आदि जो विषय है प्रिय रूप है ऊपर से अच्छे लगते हैं किंतु मारक है सब इन सबको अभिध्यायन चिंतन विचार किया तुमने तो जैसे हमसे जैसे दूर और ये पानी को अलग करता है उस प्रकार तुमने दोनों को तुलना की एक तरफ आत्मज्ञान रखा एक तरफ विक्षण को रखा चिंतन करते हुए तो क्या किया पेशान अनित्यत्व आदि दोषान ये कैसे हैं जिसमें अनित्यत्व दोष है और आदि दोष भरे हुए हैं अनित्यत्व असारत्व दोषो ये ऐसे दोष है जिनका ऐसे अनित्यत्व तो दोष है असारत्व तो कोई सार नहीं मिलता है ये बंद गोभी जैसा है एक एक पत्ता निकालते जाएंगे तो बंद गोभी खत्म कुछ मिलने वाला नहीं इसी प्रकार है सार नहीं ऊपर से दिखता है ढूंढने पर नहीं मिलेगा कोई वस्तु ऐसे नहीं जिसको घर घट बोलते हैं घर मिलेगा क्या क्या मिलेगा मिट्टी मिलेगी जिसको कपड़ा के व्यवहार कर रहे हैं क्या मिलेगा यार धागा मिलेगा और कपास मिलेगा ये चलेगा सार कुछ भी नहीं ऊपर से व्यवहार होता है शब्द प्रयोग हो रहा है बस चल रहा है तो मिलता कुछ नहीं तो ये अनित्य असारत्व और दोषाम जिसमें अनित्यत्व दोष है और असारत्व दोष हो यशाम जिनमें यशु सप्तमी करके दौगुनी करना जिनमें ऐसे दोष भरे पड़े हैं अनित्यत्व दोष और असार उनको उन सभी को दिव्यांग है सभी को हे नचिकेता साक्षी हे नचिकेता तुमने क्या दिया साक्षी का मनस्क्री धातु का रूप साक्षी बना रखा है लोग लगा रहे हैं अति सृष्टवान उसी का अर्थ कहते तब तो लगा कर बोलते अतिसृष्टवान तो न त्याग दिया परित्यक्तवान उसी का अर्थ करते हैं परित्यक्तवान अशी अहो बुद्धिमत्ता तब तुम्हारी बुद्धिमत्ता को ऐसा कहा तुमने त्याग दिया इतने बड़े पदार्थ तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है तुम बुद्धिमान हो बुद्धिमान क्या धर्म रहेगा तुम बुद्धिमान तो त्वयी बुद्धिमत्ता तुम्हारे में क्या धर्म है बुद्धिमत्व तो धर्म है तो अगर जो बुद्धिमत्व होता है तो तल कर दिया तलंतम स्त्रिया तो बुद्धिमत्ता तुम्हारे बुद्धिमत्ता का जब होता है और भी बात है आत्मा अभाव से श्रृंखला इस श्रृंखला को तो तुमने प्राप्त नहीं किया मैंने कहा था ये दिया था वो भी नहीं दिया श्रृंगार में श्रुतिम गतिम कर्मगति को श्रृंगा था और धातु से बनता है इसलिए श्री और धातु लगा करके श्रुति का श्रृंगार को स्थिति समझता है और धातु से तीन कर्म तो स्थिति बनेगा और ये श्री धातु से श्रृंगा बनाया गया है एक ही आता है दोनों का सर धातु श्री धातु से बनाया हुआ इसे श्रृंगा होगा सर की धातु से बनाया हुआ कुत्सिता मूर्धन प्रवृत्ता जिसमें मूलधन की प्रवृत्ति होती है ऐसे जो श्रृंखला है माला है कर्मटी है चित्तमय धन प्राय धन प्राय है अज्ञानियों का धन है जो वो भी तुमने नहीं लिया था यश्याम सतव मज्जंती शीतंती बहु अनेका बूढ़ा मनुष्य जिसमें मज्जंती वाले शीतंती डूब जाते हैं तो डूब जाते हैं सब क्या करते हैं बहु अनेके बूढ़ा मनुष्य बहुत सारे मूल पुत्र लोग उसमें डूब जाते हैं उसके लिए लालायित है उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं किंतु तो तुमने उसको क्या दिया ये तो सब कहा टिप्पणी यहां नहीं शिष्य सारा आता है इसका टिप्पणी एक नंबर टिप्पणी काम के वर्ग है तो माने प्रिय रूपाश्च अवसर प्रवृत्ति प्रवृत्ता कामा ने कहा था काम्यंते यदि कामा विषय विषय को काम कहा है मंदे ही काम्यमाना काम्यमाना यह काम्य माना अनर्थान इत्यर्थ जो मंद पुरुष के द्वारा काम्य माना अर्थान जो मंद पुरुष जिसको चाहते हैं विषम को चाहते हैं उनको मैंने मंद बुद्धि वाले चाहते हैं जिसको ऐसे अवसर आदि भोगों को तुमने प्रक्रिया किया एक दूसरा दो में टिप्पणी अनित्व असारत्व आदि में है अनित्व असारत्व आदि को समझी यथोत्तम ये पहले नचिकेता ने बोल दिया था स्वभाव से सर्वक्रियाम जलंत तेज का भोग पर के पदार्थ सारे इंद्रियों को शक्ति को नाश करने वाले होते हैं और आप जो लोग कल तक मेरे पास रहेंगे मेरे निश्चित निर्णय भी नहीं निश्चित भी नहीं क्योंकि ऐसे देखा जाता है ऐसा करके क्या किया तुमने अनित्यत्व तुमने तुम्हें दिखाई पड़ा उसमें क्या दिखाई दिया एक अनित्यत्व दिखाई दिया दूसरा असारत्व दिखाई दिया तो सार नहीं है सार नहीं दिखा है ऐसा दिखाई दिया जैसे केले के स्तंभ में ढूंढते जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा एक एक करके निकालो कुछ अब ऊपर ऊपर से चल रहा है सारा किंतु के और भी कोई वस्तु मिलता है चलते चलते ये समाप्त हो जाता है कोई साफ नहीं जिसको अवसर आदि बोलते हैं का तो पंचभूत मिलेगा क्या मिलेगा पंचभूत मिलता है असार है तो यथोक्तम स्वभाव से सदैन्द्रियाणाम ऐसा तुमने कहा था असाध है नित्य है करके तुमने त्याग दिया कहा परित्यक्तवान अशी कहा इसको कह रहे परिकृपा से न कृतवान से स्वीकार नहीं किया परित्यक्तवान का क्योंकि स्वीकार पूर्वक त्याग होता है स्वीकार ही नहीं किया तो क्या त्याग करेगा नहीं कहता हूं तो इसका अर्थ तुमने स्वीकार नहीं किया अर्थ्यश्राक्षी का अर्थ करना पड़ेगा स्वीकार नहीं किया मिला ही नहीं किया त्याग लिया होगा तो त्याग था इसलिए टिप्पणी कार कह रहे हैं यहां पर अर्थ्यश्राक्षी का अर्थ परित्यक्त राम शब्द का अर्थ क्या करना होगा न कृपा नानाशी तुमने स्वीकार नहीं किया ऐसा अर्थ लेना होगा ये टिप्पणी का क्या है परित्यक्तवान असी थी न कृतवान असी न स्वीकृतवान असी ऐसा अर्थ करना होगा तुमने स्वीकार ही नहीं किया स्वीकार किया होता तब तो परित्याग की बात थी तुमने लिया ही तो क्या त्याग हो गया स्वीकार नहीं किया ऐसा अर्थ करना चाहिए जैसा शब्द आया वैसा अर्थ घटेगा नहीं माने होने पर त्यागेगा है ने लिया ही नहीं क्या त्यागेगा इसलिए कह रहे हैं न कृतवान से तो मैंने स्वीकार तुमने नहीं किया यह अर्थ करना ये कृतवान से का ऐसा करना क्योंकि परित्याग से ग्रहण को होगा ग्रहण हुआ हो तो प्रत्याग हुआ ग्रहण ही नहीं हुआ तो क्या परित्याग करेगा नचिकता इसलिए वो तो परित्यक्तवान से आदि पद का श्राप स्वीकार था न कृतवान स्वीकार नहीं किया इन विषयों को स्वीकार नहीं किया यही अर्थ करना होगा अभी चार की टिप्पणी है अहो बुद्धिमत्ता असंख्य हो तुम्हारी बुद्धिमत्व को तुम बुद्धिमान हो तुम्हारे धर्म बुद्धिमत्व उसके साथ धन्य होता अहो अरे बालस्य एवं बुद्धिमत्व आश्चर्य छोटा बच्चे का इतनी बड़ी समझदारी इतनी बड़ी बुद्धिमत्ता ये आश्चर्य के विषय अहो लगा के बोलते हैं बालस्य और पांच साल का बच्चा है वो इस बच्चे का एवं बुद्धिमत इस प्रकार की जानकारी ऐसी बुद्धिमत तो जो सारे डूब रहे हैं जिसमें जिसमें अपने लालायित है वो लेने को तैयार नहीं बालस से एवं बुद्धिमत हम आश्चर्य में जाने आश्चर्य को पैदा करने वाला है कोई जवान को हो वृद्ध को बात अलग है छोटा बालक को ऐसी बुद्धि होनी आश्चर्य की बात है आश्चर्य को पैदा करने वाली बात है ये कहा अहो करके यही अबे लगा करके बोला नेपाल लगा कर बोला ये कहा पांच के में तब बाल से वो बच्चे होते हुए बचपन में हो अभी तुम तब राजा तुम कोई जवान नहीं हो वृद्ध नहीं हो किंतु बच्चे होते हुए इतनी बड़ी बुद्धिमत्ता तुम्हारी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद है आगे तो मंत्र में अवाप्त शब्द है अवाप्त कर्म में निष्ठा नहीं है कर्ता में निष्ठा है कहना चाहिए ये बोला जा रहा है छह नंबर टिप्पणी ये कहना चाहते हैं अवाप्त इति कर्तव्य निष्ठा ये कर्तव्य निष्ठा है ये अवाप्त शब्द यद्यपि तयोरेव खबर था सूत्र में नियम है कि वो तब कृत्य ये तब प्रत्यय किसमें होगा कर्म या भाव में वह बोलते हैं किंतु यहाँ पर कर्ता में कर्ता में जो होता है कर्ता में क्या दूसरा सूत्र आएगा तो अनात्तर यदि कर्तरी निष्ठा मूल में जो अनात्तर पर है कर्ता निष्ठा है करके इन्होंने क्या दिखाया सृष्टवान ऐसा कहा हुआ है तो तबतु लगा करके भाष्यकार ने अर्थ किया कर्ता में कबूत होता है तब कर्म में भाव में होता है भाष्यकार में तबतु सृष्टवान ऐसा कहा तबतु लगा कर बोला इसलिए ष्टी प्रतिक्रिया कहते फिर यहां पर ये सृष्टवान में प्रथम है होना चाहिए था ष्ठी क्यों नहीं हुई वो भी षष्टी का प्रश्न आएगा क्योंकि कर्तिकर्मणो तृतीय ऐसा सूत्र है कृदंता का योग बना हो तो कर्ता हो या कर्म हो उसमें षष्टी की वृद्धि है कृदंत के योग में ऐसा कारक का सूत्र पढ़ा है आपने कर्तिकर्मणो तृतीय इसको कारक षष्टी कहते हैं ये हाँ शेष षष्ठी ने कारक षष्ठी है इस तरह से होने वाली षष्टी किसी कारक को बाढ़ करके षष्टी हो जाए वो कारक षष्टी और षष्टी शेष सूत्र से हो जाए उसको कहेंगे शेष षष्टी संबंधवाद की विवक्षा तो ष्ठी प्रतिषेध ष्ठी क्यों नहीं हुई होगी यहां कर्तृत्व तृतीय क्यों नहीं लगा होगा ये तो कहते हैं ये कर्मणि कर्मणि कर्म में होगा क्योंकि उभय प्राप्त और ही ऐसा सूत्र आता है कर्तृकमल प्रति उभय प्राप्त करो जब कर्ता और कर्म दोनों में एक साथ ष्ठी प्राप्त हो तो कर्ता में नहीं होगी कहा होगी ष्ठी कर्म में होगी ऐसा कहा और कर्म में ष्ठी प्राप्त होने पर या कर्म है आपके पास में ये श्रृंगाम कर्म है तो उसमें षष्टि प्राप्त है फिर क्यों नहीं हुई कदम उसको निषेध कर देगा नलोका दे निष्ठा फल त्रिनाम कर्म के लिए निषेध प्राप्त कर्ता के लिए निषेध कर्म को निषेध कर दिया था कर्ता को होने पाई षष्टि कर्म ने बात दिया कर्म को प्राप्त था आप उसने निषेध किया इसलिए दोनों में षष्टि नहीं पाई पहले कर्तिकर्म कृति से दोनों में प्राप्त था तो उभय प्राप्त तो कर्म था कर्म मानते कर्तव्य दोनों प्राप्त है कर्म होना था कर्म का निषेध कर दिया न का भी निष्ठा कर्म परिणाम से निषेध कर दिया इसलिए दोनों में सचित है कर्तव्य भी नहीं कर्म में भी नहीं ये कहा अभाव प्रवाह ने स्वीकृतवान असी ये तुमने जो स्वीकार किया अभाव प्रवाह असी जो प्राप्त किया ये कहा ये न ये काम अवाप्तवादी न पूर्व में भाष्य में इसको स्वीकार नहीं किया आता आ जाएगा अवाप्तवान से अगर स्वीकार किया और नकार पूर्व में बन जाएगा न अवाप्तवान से ही ऐसा बन जाएगा भाष्य में न अवाप्तवान से ऐसा पंक्ति लगा श्रृंखला आगे है श्रृंखला को स्वीकार श्रृंखला वित्तमय धन प्राय है वो धन को ही श्रृंखला शब्द से बोला है वित्तमय प्रचुर विद्योपार्जन साधन द्योत युद्धावादी विभिन्न कलापथ कौशल यदि अर्थांतर कल्पन होती थे कहते यहाँ पर और भी कल्पना कर सकते हैं इसका क्या जो जल्दी धन कमाने वाला साधन है वो उसको दे रहा था हमें वो भी नहीं दिया जैसे जुआ है बहुत जल्दी धन कमाने का साधन है इंद्रजाल जादूगर बहुत जल्दी धन कमाता है ये साधन देने वाला था तुम्हें वो भी नहीं दिया ये भी अर्थ हो सकता है ये चुनाव है कि वित्तमय का अर्थ ये मय प्रत्यय है प्राचुर्य अर्थ में वित्तमय में बहुत सारे वित्त हो जाए तो उसके साधन ये साधन जल्दी लाटरी आदि जल्दी साधन बन जाते हैं प्रचुर वित्त उपार्जन साधन ज्यादा धन उपार्जन के साधन जाए देवता जुआ जुआ भी है और केवल जाओ जादूगर भी जाल आदि विभिन्न कला बहुत सारे कला है इसमें धन कमाने की कला बहुत सारे हैं जल्द जात कमाने कला तथा पशु कला के जो मार्ग हैं कौशल उस मार्ग में जो कुशलता है यदि अर्थांतर कल्पना मत ये अर्थांतर की कल्पना करेंगे तब भी यहाँ कोई आपत्ति नहीं आएगी कहना चाहते हैं वास्तव में वो तो नहीं है कर्मगति आदि की चर्चा है वहां किंतु ये भी बोलेंगे तो कोई आपत्ति नहीं ऐसा भी तुम नहीं दे सकता जल्द जात कमाने साधन दे सकती न असंगठन आपत्ति दे कोई असंगता की प्राप्ति नहीं होगी ऐसा अर्थ करेंगे तब तब भी ये अवधि अवश्य जानना चाहिए कहा आगे श्रृंखला शब्द का अर्थ करते हैं सृष्टिगत युक्तो निष्पत्ति सृखी गतम धातु से श्रृंखला बनाया गया इसलिए उसका पर्यायवाचन दिया स्थिति का गतम स्थिति ये कहा श्रृंखला का अर्थ करते स्थिति का दिया मार्ग ये बताया ठीक आगे कुत्सिताम कहा फिर इसको कुत्सित क्यों कहा इतने बड़े माला दे रहे थे उसको निंदित क्यों कहा कहते हैं परमार्थ दृष्टिया विशिष्ट कुछ था व्यावहारिक दृष्टि से बहुत लाभ वाला है क्योंकि परमार्थ दृष्टि से निंदनीय है तो धन के पीछे लगेगा उसको आपको आत्मज्ञान होना संभव नहीं पूर्वम तो लोक दृष्टि लोकदृष्टि अवलोकन अपेक्षा कहा था पहले कहा था अकुक्षिताम कहा था क्यों पहले कौन भाष्य में अर्थकथन का अकुक्षिताम कहा था किसके लिए लोक दृष्टि का वो तो उसी को चाहते हैं पूर्वों को लोग प्रलोभन अपेक्षा प्रलोभन दे रहे थे यमराज इसलिए अकुत्सिताम गति गृहाना कहा था पहले ऐसा कहा था लोग प्रलोभन की अपेक्षा से कहा या तो लोक दृष्टि से कहा या प्रलोभन की दृष्टि से कहा दोनों से कहा था अकुत्सिताम यदि उत्तम की अभिवत इसलिए कोई विरोध नहीं या कुत्सिताम बोला पूर्व में ये माला ले लो का विषय भाष्य में कहा था अकुत्सिताम गति गृहाना ये कहा था तो विरोध विरोध नहीं है पहले कहा था ये लोक दृष्टि से अपेक्षा हम मतलब लोग दिखा रहे थे इस दृष्टि से कहा था अभी वास्तविक दृष्टि से बोल रहे थे कुर्सित है वास्तव आगे दस मिनट पड़े मूर्धन प्रवृत्ताओं का मूर्धन कुतो अवगतम अश्या कुक्षत्वम कहते ये जो श्रृंगा है कर्मगति है ये कुत्सित है बिंदित है कैसे कैसे जाना आपने ये संज्ञा आगे कहा मूर्धन प्रवृत्ता बोल दिया ना भाषेकार ने मूर्धनों की प्रवृत्ति होती है जिसमें जिसमें मूर्धन की प्रवृत्तियां चलती है वैसी है ये मूर्धन के वो क्षमणाम प्राप्याम है क्षमणाम है प्राप्याम अर्थ करता मूर्धन को द्वारा तो प्राप्त है मूर्धन को अज्ञान लोग चाहते हैं उसको प्राप्याम या तो क्षमणाम का अकुक्षिता से चेव्य का विद्वद्वी भाव यदि अकुक्षित हो तो ज्ञानी के द्वारा भी सेवित होना चाहिए ज्ञानी नचिकता ले रहा उसको नहीं ले रहा इसका मतलब कुत्सित है अकुक्षिता चयन यदि अकुक्षित हो उस का तो विद्वत भी सत्य है विद्वान के द्वारा भी सेवित होना चाहिए किंतु नहीं है कुत्सित है देश सिद्ध होता है अच्छा वित्तवायु वो कर्म की प्रवृत्ति होती है करके कैसे पता लगा भाष्यकार को क्या कहते हैं वायु का धन में लगे हुए था तो ना ये कहा वित्तवायु तब कुत्रो अवरों और मूर्जन की प्रवृत्ति होती कैसे जाना जाए तथा वित्त वित्तवायु साइंटिफिक बात है ऐसा आगे वो वित्तमय का अर्थ है धन प्राग में जो वित्त मई शब्द में मैद है ना प्राचुर्य अर्थ में मय जाना विकार अर्थ में नहीं प्राचुर्य अर्थ में तत्प्रकृत में मय इस सूत्र से मैद है समझना ही कहा प्राचुर्य मय इति आशय व्याख्या की वित्तमयी ने जो कहा मय है वित्त शब्द से मैद दिया प्राचुर्य अर्थ में एक अभिप्राय लेकर व्याख्या करता धनप्रायाम ऐसा कहा धनप्राय है वो मूढ़ा ही मुह्यंती वित्ते इति ये वित्त शब्द की व्याख्या करते मूढ़ा ही मुह्यंती वित्ते इति जिस वित्त में मूर्ख लोग मोहित हो जाते हैं उसी को वित्त कहते हैं पक्षते आगे कहेंगे स्वयं ब्रह्माद्यंतम वित्त मोहित मूर्ख स्वयं जबराज बोलेंगे प्रमादी व्यक्ति जो है ना धन के लोग से मोहित हुआ व्यक्ति इसको ले नहीं सकता कर देता है तो मेरे बस में बार बार आएंगे ऐसे लोग हो मेरे बस में आए ऐसा एवं तत्व मूर्धन प्रवृत्तित्व चाह ये जो यहाँ बताया गया निंदित है वो और मोरजन की प्रवृत्ति होती है उसमें कहा तब तक न उन्मूलन इतिहास है इसमें मूल नहीं है मत समझना उन्मूलन नहीं मूल रहित नहीं है वो इस अभिप्राय से कहा तत्र मूलम अनुकूल है उसे मूल कहते हैं यश्याम का यश्याम भी बहुत डूबा मंत्र नहीं है जिसमें डूब जाते हैं सारे के सारे मूर्ख लोग तो किसमें धन में डूबते हैं इसलिए वही कहने को आपत्ति है कुछ कुत्सितव तो कहने को आपत्ति है मूर्ख लोग जिसमें डूब रहे तो अच्छी बात थोड़ी होगी निंदित तो होंगे वो मध्यकत्व वर्षा पुरुषत्व डूबाने वाला है डुबाने वाले होने के कारण इसको कुत्सित कहा निंदित कहा मज्जदान बहुत्या बहुत तो उक्तिया ही वह मध्य थे डूबने वालों का यशमिन बज्जंती करके बोल में सखी है बूढ़ा नाम डूबने वाले जो गुरकर्म होगा बहुत तो उक्तिया बहुवचन से कहा है ये श्याम मज्जंती बहबू विबूढ़ा बहुवचन है बहुवचन होने से उसी से ही बूढ़ा तो बनते थे क्योंकि कि मूर्ख है समाज लड़ता है क्यों बहुवचन से कहा इसलिए क्यों ज्ञानी बहुवचन से कहने वाले नहीं होते अच्छा आज भी वहां कोई ऐसा है वो तो एक अंगुली में कोई होगा एक अंगुली से सोचने वाला आज भी ऐसे दिनों में वो ज्ञानी आज है वो ऐसे इतने नहीं होते मूर्ख लोग बहुत होते हैं इसलिए बहुवचन जो कहा बूढ़ा कहा उससे भी सिद्ध होता है ये कहा मध्यताम बहुत उगते ही ये डूबने वालों को तो बहुत कहा बहुत बहुवचन के कहा इसलिए मूर्त मूलत से मूर्त सिद्ध होता है नहीं अमूला भगवती भाव प्रसिद्ध नहीं जो ज्ञानी लोग होते हैं ज्यादा नहीं होते हैं बहुवचन के लायक नहीं होते वो तो एक वचन में प्रयोग होता है बहुवचन होता ही नहीं होता हर स्थिति में जो ऊपर पहुंचे हुए होते हैं कोई एक ही होगा प्रसिद्ध है उत्तम सर विवेक चुड़ामणि ने स्पष्ट करके बोल दिया है दुर्लभता बताई है ज्ञानी की दुर्लभता बताई है जंतु नाम नर्जन दुर्लभता पुष्पम पुरोपित्रता तस्मात वैदिक धर्म मार्ग पदार्थ तस्मात परम आत्मानाथ विवेचन सनुभवो परमात्मा संस्कृति मुक्तिर्णो शतकोटि जन्म सुकृते पुण्य है आत्मानाथ अभिवेचन सबसे ऊंची बात है पहले तो मनुष्य शरीर प्राप्त करना दुर्लभ है उसमें भी पुरुष शरीर प्राप्त करना दुर्लभ है उसमें भी विप्र ब्राह्मण आदि शरीर प्राप्त करना दुर्लभ है फिर भी ब्राह्मण जाति का हो वैदिक कर्म नहीं करता हो तो, तो ब्राह्मण बंधु कहा है जो ब्राह्मण जाति में वैदिक कर्म में लगा हुआ हो वो उसकी दुर्लभता है तस्मात विद्वत तमास्मात पर उसमें भी ज्ञानी हो वो और ज्यादा विशेष है किंतु यह सब को छोड़ करके आत्मात्म विवेचन समूह हो ब्रह्मात्मा शक्ति आत्मात्म विवेचन और अनुभव ये जो करना होता है पुण्य इतना न लगते शतकोटि जन्म से से पुण्य इतना न लगते करोड़ों जन्मों का पुण्य एकत्रित होगा तभी ये आत्मा विवेचन करने लग जाएगा नहीं तो सुनता रहेगा सुनाते रहेगा अपना विवेचन नहीं करेगा करोड़ों जन्म का पुण्य एकत्रित हो जाए तब वो आत्मा विवेचन कर सकता है दुर्लभता अधिकारी की दुर्लभता दिखानी हुई है आत्मज्ञान के अधिकारी की दुर्लभता वहां दिखानी हुई तो कोई एक ही होगा यही सिद्ध होता है कहा अच्छा टिप्पणी हो गई यश्याम श्रेताऊ श्रेताऊ बच्चंती सीधंती सीधंती संधि विसर्ण गति अवसाधन से ये अवसाधनार्थ में दूर जाते हैं जाता है श्रुति श्रुतव मैंने श्री धातु से तीन करेंगे तो श्रुति बनेगा सप्तमी श्रुतव इसमें मज्जंती श्रीदंती क्योंकि यह श्रीमताम पुरेशु अक्रिय माने उनकी भावना कैसी तो डूबने की भावना बता रहे धन में डूबने वाले कैसे डूबते हैं यह अश्विन लोके श्लोक में ऐसी भावना होती है उनकी मांग होती है जो डूबने वालों की संसार में डूबने वालों की मांग ऐसी होगी यह अश्विन लोके श्लोक में श्रीमता पुरेशु अक्ति है धनवान के पुण्य अवतर हो जाए तब तो खाना पीना आनंद करने को मिलेगा दरिद्र को पुण्य क्या मिलेगा श्री भगवान पूरे अवतीय श्रीमान के पूरे में अवतार लेकर के जन्म लेकर के भोगान भुंजाना हम लोग भोग भोगते हुए शब्द पर रूप दस गंध ये सबको भोगते हुए ये भोग भोगते हुए कर्माण करवा फिर आगे के लिए कर्म भी करते रहे स्वर्ग आदि के लिए कर्म करते रहे ये भावना होती है करें मृत्युआचर आगे मरना तो पड़ेगा ही यहाँ पहले श्रीमान के कुल में पैदा हो फिर खूब भोग भोगे साथ में कर्म भी करें वैदिक कर्म करें उसके बाद भर करके स्वर्ग भोग आया भवान स्वर्ग के अनुभव करेंगे फिर क्या करेंगे स्वर्ग लोग के भोग अमृत पान आदि का अनुभव करें करें हम करेंगे तथा पुनः फिर उसके बाद वहां से भी पुण्य क्षेत्र होगा फिर धक्का दे देंगे तो तथा पुनः श्री पता हमारे पुलिस फिर दोबारा भी धनी के पुण्य वहां क्योंकि भोग भोगना है तथा पुनः स्वर्ग से जब लौटे लौटना पड़ेगा तब फिर श्रीमराम पुलिस विविधान भोगान अनुभव और भगवंता नाना प्रकार के भोगों को भोगते हुए एवं कर्माणी अनुष्ठान फिर हम ही करेंगे वैदिक कर्म करेंगे स्वर्ग पर जाओ फिर कहा जाएंगे फिर स्वर्ग जाएंगे फिर यही चलता रहेगा यही मांगे उनकी क्रिया अभिनिवेशा यदि इस प्रकार के मजबूत अभिमान बना हुआ है धन के विषय में भोग भोगने की जो अभिमान है ऐसा निर्देश वाले हैं धन भोग प्रचुरे कर्म आगे एवं प्रगम धन भोग प्रचुर तो कर्म मार्ग नहीं होता है तभी भोग पाएंगे ज्ञान मार्ग मतलब जो मुझे वो भी सब छोड़ना है कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ तो फेंकना ही है बस जिसको चाहिए वो कर्म मार्ग का आश्रय देते कर्म मार्ग एवं प्रगम होता है तो उसमें घूमते हुए कृष्ण कृष्ण बार बार कष्ट ही होना उनको ये कहा इसलिए बूढ़ा शब्द से कहा इत्यादि कहा

स्त्रीलिंग में प्रयोग है दोनों दूरम बहुत दूर है नजदीक रह नहीं सकते बहुत दूर में रहने वाले हैं सामूहिक यज्ञ कभी हो नहीं सकते दोनों अलग अलग है एक गंगोत्री में होगा एक विशेष में विद्या अज्ञानी और ज्ञानी से होने की संभावना है दूरम होते दोनों जैसे अंधकार और प्रकाश दूर होते हैं एक ही रहेगा एक काल में दोनों नहीं जा सकते ठीक इस प्रकार यहाँ विज्ञान होगा तो ज्ञान है अज्ञान होगा तो अज्ञान है दोनों होना संभव दूर है विपरीत विपरीत दिशा में ले जाने वाले हैं एक संसार में ले जाने वाला है अविद्या और मोक्ष में देने वाला है देने वाली विद्या है विपरीत है विपरीत धर्म वाले हैं दोनों विश्वचि नाना गति और भिन्न भिन्न गति वाले हैं भिन्न भिन्न गति वाले विश्वचि कहा एक एक तरफ वाले नहीं है भिन्न भिन्न तरफ एक स्वर्ग आदि की तरफ ले जाना है एक मोक्ष की तरफ ले जाना क्या कौन है वो कहा अविद्या या तो विद्या नहीं आता तो शास्त्र के द्वारा जानकारी हो गई क्या एक को अविद्या कहा गया दूसरे को विद्या कहा गया ये दोनों ऐसी वस्तु है जो तीन विशेषण लगा इनका दूरम एटे विपरीत ये ये अविद्या आया तो विद्या दिया आता जिसको अविद्या शब्द से जाना गया और विद्या शब्द जाना गया ये दोनों ऐसे हैं ये सामंजस्य होना संभव नहीं है यहाँ तो अज्ञान का सामंजस्य होना संभव नहीं अंधेरा और प्रकाश का भी एक साथ होना संभव नहीं ऐसे ये भी है ज्ञान होगा तो ज्ञान ही होगा अंधेरा भी हो और दिया भी जले ऐसा तो नहीं होगा जब तक दिया न जले अंधेरा ही रहेगा और दिया जल जाएगा तो अंधेरा तो गायब हो जाएगा एक ही होना एक काल एक ही रहेगा ऐसे ही विज्ञान और अज्ञान दोनों विद्या अविद्या विद्या ऐसे जाना गया शास्त्र के माध्यम से ज्ञान था विद्वत भी ज्ञान विद्वानों ने ऐसा जाना है ऐसा अनुभव करता विद्या भेद से नाम नचिकेतम नचिकेतम है नचिकेता तुमको नचिकेतम विद्यांत है विद्या भेद है विद्या की अभिक्षा अभी इच्छा आप तुम इच्छा इच्छा आप व्याप्त धातु से सम करेंगे सम करेंगे तो मीमा भू रब रब सक पद पदाम अच्छा इस मध्या के ईशादेश होगा हाँ। ये आप है ना आप क्या प्री थाम ईद से आपको ईद हो जाएगा ईद बन जाएगा और अंतर्ध्यास रूप से बन जाएगा लोक का लोक बन जाएगा ईप्सा आगे ईप्सा बन जाएगा ये कहा विद्या हम विद्या के अभिलाषी मैं तुमको समझता हूं तुम विद्या के चाहने वाले हो अविद्या चाहने वाले नहीं हो मैं कर्म चाहने वाले नहीं हो ज्ञान चाहने वाले हो मैं ऐसा मानता हूं नवा कामा बहुत हेतु कहते हैं क्यों विद्या को चाहने वाले मैं मानता हूं क्योंकि बहुत सारे विषय तुम्हें लुभा न सकते बहुत सारे विषय दिया तुम्हारे सामने रखा वो कोई भी विषय तुम्हें तो लोग प्रलोभित नहीं कर सके इसलिए तुम तो विद्या के अभिलाषी हो मैं ऐसा समझता हूं ऐसा इंतजार कर सकते है भाष्य है तयो श्रेय आराम से साधु भक्ति हियते अर्थात ये प्रयोग करते ऐसा पहले मंत्र में आया था क्यों दोनों में से अन्य श्रेय अन्य देव हाँ, तो ऐसा दूत ही तो प्रेय यही था तो तयो श्रेय आगमन से साधु होती आगे मंत्र यही था उन दोनों में से ये निर्धारण में ष्टी है तयो उन दोनों में से जो श्रेय को ग्रहण करने वाला है उसके कल्याण हो जाता है समीचीन कार्य होगा ये अर्थात योग प्रयोग करते तो प्रेय को ग्रहण करने वाला व्यक्ति वो परमार्थ से त्याजित हो जाएगा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा संसार के चक्कर खाता रहेगा इति उत्तम ऐसा कहा था प्रथम मंडल में कहा था ये इसे चौधरी की पंच सिंगावलोकन है संग्राम अंगी कभी सिंगावलोकन है शेर जब चलता है तो थोड़ा दूर जाता है तो थोड़ा एकदम दूर देखता है तो, तो नहीं फिर थोड़ा दूर चलेगा तो इसको कहते हैं सिंगावलोकन है पीछे थोड़ा मुड़ के देखना यहाँ पीछे क्या हुआ है उसको देखना है इसको सिंगावलोकन न्याय बोलना हम बहुत आगे चले गए पीछे की बात भूल गए होंगे तो थोड़ा पीछे की तरफ ध्यान देना इसको कहेंगे सिंगावलोकन जैसे शेर चलता है थोड़ा पीछे देखता हुआ चलता है कोई खतरा तो नहीं थोड़ा चलता है देखता है तो आप भी कुछ चले हैं तो देखना है पीछे की तरफ ये करें सिंगावलोकन आएगा सिंगावलोकन शंका हम करेंगे शंका को अंकित करते हैं शंका रखते हैं ये कहा क्या शंका रखेंगे पहले जो कहा था करके का प्रथम मंत्र में क्या था इस बार इस बल्ली का पहले श्रेय आदरण से साधु होती ये थे अर्थात ये प्रयोग थे ये तो कही थी उत्तम कहा था ये इसी के प्रथम मंत्र था इसी बल्ली का तब कस्मा यह कि क्यों ऐसा होता है एक तो कल्याण हो जाना एक को तो परमात्मा से प्रश्न होना तस्मात देखो ये अकस्मात यहाँ तक प्रश्न है क्यों ऐसा तो आगे उत्तर देते यथा से उत्तर होगा अकस्मात पंद्रह उभयो वैदिकत्व विशेषे सती एवं वैदिकत्व विशेषे सत्य एवं फल विभेद एक फल भेद में कारण क्या है दोनों वैदिक है वेद में दोनों का विधान है चाहे कर्मकांड हो चाहे ज्ञान हो वैदिक है दोनों वेदे भव वैदिक शब्द सप्तांता ठप ठप प्रत्यय करके वैदिक बनाया जाता है वेद शब्द से तो वर्ण वैदिकत्व है दोनों के दोनों तो वैदिक तो है वेद में ही है दोनों की चर्चा कर्मकांड की और ज्ञान कांड की चर्चा वेद में ही है वैदिकत्व अविशेष सत्य दोनों होते हुए भी वैदिक है दोनों होते हुए एवं फल विभेदक क्यों प्रयुक्त इस प्रकार से फल का विभाग किस कारण से हो गया ये प्रश्न है ये फल विवाह हो गए एक संसार में घुमाने वाला एक मोक्ष देने वाला ये कैसे हो गया दोनों वैदिक क्या वेद में है दोनों एक ही होना चाहिए फल भिन्न फल कैसे हो गया ये शंका है ये कहा तब तस्मात ऐसा कहा तो उत्तर देते यथ ये कारण है देखो ये दोनों एक साथ होना संभव नहीं है वैदिक होने पर भी कर्म और ज्ञान एक साथ होने से तो है तो वैदिक है दोनों एक अर्थ आते हैं यथो दूरम दूरेगा दूरम का दूरेगा यह अर्थ तो करना क्योंकि तृतीय पंचमी द्वितीय दोनों होते हैं तो किसी बताएंगे दूराधि का अर्थ में द्वितीय दस सूत्र है दूर शब्द और अंतिक शब्द के अर्थ वालों से द्वितीय भी होती है पंचमी होती है और तृतीय भी होती है तृतीय लगाकर दूर दूरे अंतर है महान अंतर है ये दोनों में विद्या और अविद्या में महान अंतर है अंतर है ये विपरीत है ये दोनों विपरीत है महान अंतर से विपरीत है थोड़े से नहीं ये दो चार पॉइंट नहीं महान अंतर है इनका ये दोनों ऐसे अन्य अन्य व्यावृत्त हो गया भिन्न भिन्न अपने अपने व्यावृत्ति है उसके साथ इसका संबंध है इसके साथ उसका संबंध है एक दूसरे की व्यावृत्ति रूप है व्यावृत्ति रूप है दो नंबर एक नंबर की टिप्पणी को कहेगा दो नंबर द्वितीया से द्वितीया पंचमी तृतीय तृतीय तृतीया की अद्वितीय पंचमी में चली जाइए वहां तो तीन विभक्ति हो जाती है प्रारंभ विज्ञान और समाप्ति है और ये अब द्वितीय का अर्थ लेना है या तृतीय का न पंचम है किसमें होगा प्रातिपदिक के अर्थ है ये होगा दूर बस नहीं होगा बहुत दूर है न दूर को न दूरे मैंने दूर के द्वारा न दूरा भी अर्थ नहीं लेना है बहुत दूर है प्राकृतिक अर्थमात्र में में विराम है क्या विराम है ये जो तृतीय का विराम दिखाया है दूरम दिखाया हुआ है ये प्राकृतिक अर्थ लिंग परिमाण बचमात्र प्रथमा के प्रथमा समझ प्रथमा विभक्ति तो नहीं है लेकिन तो प्रथमा समझना है दूर अर्थ दूर खबर का दूर का दूर ही समझना है दूर को यह अर्थ नहीं देता है ये बात ये का अर्थ कर दिया प्राकृतिक समाज विग्रह ने कहा कि द्वितीया तदर्थ तृतीया व्याप्त होती द्वितीय ऐसी है उसके अर्थ कर दिया तृतीया के द्वारा व्याख्या करके दूरेगा कहा अवयव वैगल का भूयान वेद इनके जो विपरीतता है बहुत बड़ा भेद है भूयान भेद बहुत बड़ा भेद है हाँ वेद को मानेगा तथा तय वैदिक भूयान वेद फलस्वरूप ध्यान वही उन दोनों वैदिक है कारण तो यही दिखाई पड़ रहा है किंतु फल और स्वरूप दोनों में भेद महान भेद ज्ञान का स्वरूप अलग है कर्म का स्वरूप ज्ञान का स्वरूप होता है ना हम मनुष्य इत्यादि भावना स्वरूप ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कर्मस्वरूप मैं मनुष्य हूँ ब्राह्मण हूँ दक्ष हूँ अर्थी हूँ काल पूजा कर्म नहीं हूँ ये सब आरोप करके होता है इसका स्वरूप ऐसा है ज्ञान का स्वरूप और कर्म का स्वरूप अलग है और फल भी अलग है एक संसार देने वाला है मोक्ष देने वाला है फल स्वरूप फल स्वरूपाध्यान देगा कारण तो एक ही है वैदिक है किंतु फल भिन्न है स्वरूप भिन्न है साधन एक ही है साधन का भेद है तत्व तो किसी भी वही है इंद्राय स्वाहा वो भी वही है एक ही में है इंद्राय स्वभाव भगवाय स्वभाव वो भी वही है तत्व से आदमी वही है भेद नहीं है किंतु फल और स्वरूप का भेद है साधन एक ही देखने पर भी भेद है अच्छा दो नंबर कहा व्यापक निरूपण विभिन्न रूप है भिन्न भिन्न स्वरूप है इनका एक स्वरूप नहीं है विद्या और अविद्या का स्वरूप एक नहीं है ऐसा क्यों इनका स्वरूप क्यों होगा विवेक और अविवेकात्मकत्वाद भाषण का एक का विवेक स्वरूप है मान छानबीन करने को विवेक कहते हैं विपरीत पृथक भावे रात बी पूर्वक विपरीत रात से धाय प्रत्यय करके विवेक का शब्द बनाया जाता है माना छानबीन करने वाले को विवेक कहते हैं इष्टानिष्ट को पहचानने के लिए शक्ति विशेष को विवेक कहेंगे और जो न हो वो है विवेक और विवेकात्मक प्रकाश हो प्रकाश हो जैसे अवेरा और प्रकाश होता है उसी प्रकार है दोनों में एक विवेक रूप है एक अविवेक रूप इसलिए कहना है तीन नंबर की टिप्पणी कर्म को ही देखो ये कर्म का अधिकारी कौन होता है और ज्ञान के अधिकारी कौन होता है दिखाना चाहते हैं यही भिन्न भिन्न है क्यों भिन्न है कर्म हो तो ही जो कर्म होगा कर्म में कर्म वाले को कर्म बोलते हैं कर्म को ही अर्थी दक्ष विजो हम इत्यादि मानता है मैं जुजन्मा हूं ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य जाति में हूं और अर्थी को स्वर्ग चाहता हूं पुत्र चाहता हूं मैं अर्थी भी हूं अर्थी हो और दक्ष हो कुशल भी हो कर्म करने के लिए कुशल भी हो जानता हूं कैसे करना चाहिए ज्योतिष को मुझे आजादी कैसे करना चाहिए सब मुझे पता अश्विन दिया कैसे होना मालूम है दक्षी हो आर्थी हो और दिजो हो दिजन्मा हो दो बार जन्म जिसका हो जाए उसको दिजो बोलते हैं एक तो माता पिता के माध्यम से होना यह जन्म किंतु एक होता है यज्ञ पर संस्कार से जन्म होता है उसको दोबारा जन्म माना जाता है ब्राह्मण प्रदेश से तो ये होता है द्विजो मैं अधिकारी हूं समझता है यदि मिथ्या अभिमान वो मई में ये जोड़ता है मैं हमारे आत्मा आत्मा में भी वो अति होगा दक्ष होगा और ये विजाति होगा नहीं अभिमान नहीं था शरीर को लेकर के अभिमान हुआ है अभिमान भवन ऐसा होता है यदि अभिवेक कर्म इसलिए अभिवेक है कर्म मैंने शरीर आदि में आत्मवृद्धि करके ही कर्म होता है अभिवेक है मैंने शरीर आत्मा नहीं है आत्मा मान के काम करता है नहीं मानता है क्या मानता है नहीं मैं ब्राह्मण हूं ऐसा मान के काम करता है ये कर्म का ऐसा स्वरूप है समय हो गया है ओम सहनावतु सहनौ शारीरं करवावहै तेजस्विनावहै तमस्तु विदुषा ॐ शान्ति शान्ति शान्ति